सफर आरजे सनी के साथ आगे भी हर रोज आप सुनेंगे कुछ खास गाने आज जान जिद ना करो आज जाने की जिद ना करो फिफ्टीज एंड सिक्सटीज के ओल्ड मेलोडीज जो आपके दिल व दिमाग को ताजगी देगा सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर खाबों का सफर मैं हूं आपका हम सफर और आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ फिर से एक बार वीबा जी हमारे साथ हैं आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार सनी आपको और हमारे बहुत ही प्यारे लिसनर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी जी जी बहुत बहुत आपका स्वागत है और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप प्यारे प्यारे कलेक्शंस लेके आते हैं फिफ्टीज़ एंड सिक्सटीज़ के तो हमारे श्रोता भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि पुराने इतने प्यारे गाने कितने सुंदर है तो आइए कहते हैं तारों में अकेला चांद जगमगाता है मुश्किल में अकेला इंसान डगमगाता है कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है जी बहुत सही कहा आपने जी, जी और ये दोस्ती के ऊपर ही मैं ये पहला गाना लेके आई हूँ हाँ। ये इसमें है लव स्टोरी है ट्रायंगल है हाँ, हाँ। और बहुत ही प्यारा गाना है ना आदमी का कोई भरोसा ना दोस्ती का कोई ठिकाना दो प्यार करने वालों के बीच में एक दोस्त आ जाता है और कैसे वो कुर्बानी देते हुए आगे बढ़ रहे हैं बहुत ही प्यारे लिरिक्स हैं इसके और फिल्माया गया बड़ा सुंदर ढंग से फिल्माया गया है हम्म। इसमें वहीदा रहमान जी की एक्टिंग बड़ी सुंदर है हम्म। और दिलीप कुमार की एक्टिंग तो चार चांद लगा रही है हम्म। बहुत ही प्यारा गाना बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छा गीत आपने याद कराया ये आदमी इस एल्बम से है जो 1968 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में दिलीप कुमार मनोज कुमार वैदा रहमान प्राण ने काम किया था और मनोज कुमार दिलीप कुमार की जो है एक दोस्ती जो है बहुत ही अच्छी बताई है इसमें और यहाँ पर एक जुनूनी युवक की कहानी इसमें बताया गया है और बीच में एक दुर्घटना हो जाती है जो एक क्लाइमैक्स का रोल प्ले करता है इस फिल्म में भीम सिंह जी के निर्देशन में ये फिल्म बनी थी नौशाद साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत इस फिल्म को मिला है और जो गाना आपने याद किया है ना आदमी का कोई भरोसा ना दोस्ती का कोई ठिकाना शकील बदाई साहब ने इसे लिखा है और मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है आदमी इस एल्बम का चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में आपके लिए आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज खुश रहो खुशियां बांटो तेरी मोहब्बत शक नहीं है तेरी वफा को मानता हूँ मगर तुझे किसकी आरज़ू है मैं ये हकीकत भी जानता आदमी का कोई भरोसा न दोस्ती का कोई ठिकाना वफा का बदला है बेवफाई अजब जमाना है ये जमाना ना आदमी का कोई भरोसा आई है ना इश्क में अब वो जिंदगी है जिधर निगाहें उठा के देखो सितम है धोखा है बेर के नगमे बिखर गया प्यार का तरान ना आदमी का कोई भरोसा दवा के बदले में जहर दे दो मार दो मेरे दिल में खंजर लहू से सींचा था जिस चमन को उगे हैं शोले उसी के अंदर खुद जला दिया मेरा आशियाना ना आदमी का कोई भरोसा ना दोस्ती का कोई ठिकाना बपा का बदला है बेवफाई अजब जमाना है ये नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है खाबों के सफ़र में और बहुत ही प्यारा सा सफ़र शुरू हो चुका है आदमी इस एल्बम का ये बहुत ही खूबसूरत गाना मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में आपने सुना आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा है और इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक गीत की तरफ तो मैं चाहूँगा विभा जी आपके पास अगला गाना कौन सा है ये गाना भी बहुत प्यारा गाना है जो पिछला गाना सुनते हुए मुझे लग रहा था इसमें कैसे कि इसमें दुख भी है तंज भी था वो आदमी फिल्म के गाने में हम्म। इसके बोल बीच में थे जैसे मेरे ही घर के चिराग ने खुद जला दिया मेरा आशियाना हम्म। कभी कभी गलत फहमिया और कहा इंसान को ले जाती है हम्म। पर उसको पीछे छोड़ते हुए मैं एक सुंदर सा मीना कुमारी पे फिल्माया गया गाना लेके आई हूँ ना बोले ना बोले ना बोले रे घूंघट के पट ना खोले रे इसमें मीना कुमारी बहुत ही अटकेलियां करती हुई नाचती गाती हुई इस गाने को गा रही हैं जैसे अपने आप को राधा और महबूब को कृष्ण का नाम देते हुए आ, कैसे वो घूंघट के साथ खेलती हुई इस गाने को गा रही हैं हम्म। कुल मिला के बहुत सुंदर गाना है ये भी चलिए बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और ये आज़ाद 1955 में फिल्म आई थी और इस गाने को भी राजेंद्र कृष्ण साहब ने लिखा है लता मंगेशकर ने गाया है सी रामचंद्रन का बहुत ही खूबसूरत संगीत इस फिल्म को इस गाने को मिला है तो कहते हैं संघर्ष में आदमी अकेला होता है सफलता में दुनिया उसके साथ होती है और ऐसा भी कहा गया जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास भी रचा है आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज़ एक सौ सात दशमलव आठ एफ एम खुश रहो खुशियाँ बांटो दशमलव आठ एफ खुश रहो खुशियाँ बांटो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज़ एक सौ सात दशमलव आठ एफ पर खाबो का सफ़र और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया आज़ाद इस एल्बम का और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मस्ती और चुलबुल बड़ा गाना था एक अमीर आदमी की कहानी यहाँ पर बताया गया है और आज़ाद नाम का व्यक्ति जो है कुछ डाकुओं के साथ भिड़ जाता है और वहाँ पर एक मुश्किल सिचुएशन क्रिएट होता है और पूरी फिल्म ऐसे पे बनी थी ये श्री रामलू नायडू का निर्देशन में ये फिल्म बनी थी सी रामचंद्रन का संगीत से सजा तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और कौन सा खूबसूरत गाना आपके पास है पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी सनी आपकी शायरी बहुत इम्प्रूव होती जा रही है बड़ी अच्छी अच्छी शायरी आप इन बिटवीन बोल रहे हो मैं बड़ा इंजॉय कर रही हूँ थैंक यू सो मच जी अगला गाना है ना छेड़ो कल के अफसानों को करो इस रात की बातें ये भी मोहब्बत भरा गीत है और इसमें पुराने बीते हुए टाइम को पीछे छोड़ते हुए आज की खुशियाँ मनाने जी विभा जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है रात और दिन एक एल्बम आई थी फिल्म आई थी 1967 में और ये जो फिल्म है नरगिस फिरोज खान प्रदीप कुमार के एस सिंह पर पिक्चराइज किया गया था उस ज़माने में ब्लैक एंड वाइट ये फिल्म रही होगी और मुझे लगता है कि सत्यन बोस का ये निर्देशन में फिल्म बनी थी अख्तर हुसैन इसके कहानी को लिखा था और ये कहानी जो है थोड़ा सा अलग हटके हैं रात और दिन आप समझ सकते हैं और शंकर जयकिशन साहब ने इस फिल्म को संगीत दिया था तो इस फिल्म का जो गाना आपने याद किया है जिसे शैलेंद्र साहब ने लिखा है लता मंगेशकर जी ने गाया है और शंकर जयकिशन साहब ने संगीत से सजाया है तो आइए सुनते हैं इस खूबसूरत गीत को आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज़ खुश रहो खुशियाँ बांटो नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है खाबों के सफ़र में और हमारे साथ विभा जी हैं और बहुत ही प्यारे कलेक्शन वो सुना रही हैं आइए अब आगे बढ़ते हैं जैसे कहते हैं जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता फिर कदर न होती किसी उनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता इसीलिए कामयाबी पाने के लिए थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है और सबको नहीं मिलती क्योंकि सबके पास वो हुनर नहीं होता आइए आगे बढ़ते हैं विभा जी अब अगला गाना कौन सा आप हमारे श्रोताओं को सुना रहे हैं सनी आपने ठीक कहा कि कामयाबी पाने के लिए मशक्क़त करनी पड़ती है और यहाँ आशा पारिक मशक्क़त कर रही हैं अपने महबूब को मनाने के लिए और कह रही हैं <laughs> ना जाओ मेरे हमदम सुनो वफा की पुकार हाँ। तो ये पूरे कड़कपन से पहले अपने महबूब को नाराज कर देती हैं हाँ। और फिर उनको पाते हुए गा रही हैं साथ ही अपने महबूब को प्यार का वास्ता दे रही हैं हाँ। और अब हंसाने को कह रही हैं तो कुल मिला के बहुत सुंदर गाना है और अच्छी तरह फिल्माया गया बहुत ही खेतों में नेचर में दिखाया गया यह गाना है हम्म, उदासी के जुल्फों को महका दूंगी तेरी सुनी सुनी बाहों में घुखड़ा सजा दूंगी अब आएंगे तो लौटेंगे तेरे न लौटेंगे तेरे कदम बहुत अच्छे लिरिक्स है ये क्या बात है क्या बात है बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया विद लिरिक्स याद कराया है तो आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता इस गाने को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं और आपने जिस गाने का याद कराया है ये एक फिल्म आई थी प्यार का मौसम 1969 में और ये फिल्म जो है राहुल देव बर्मन शशि कपूर आशा पारेख और निरुपमा राय पर पिक्चराइज किया गया है और इसमें ये गाना है आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज खुश रहो खुशियां बांटो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज़ एक सौ सात दशमलव आठ एफ पर खाबों का सफ़र जी हाँ बहुत ही प्यारे प्यारे गाने आप सुन रहे हैं और भी जो अभी जो गाना आपने सुना प्यार का मौसम इसमें भी एक प्रेम कहानी है और ये बड़ी अलग टाइप की कहानी बताई गई है एक लड़का को एक लड़की से प्यार होता है कॉमन बात है लेकिन जब लड़की को पता चलता है कि लड़के का असली नाम कुछ और है तब उसे जो है वो मुश्किल फील करती है ये चीज़ें जब पता चल जाता है कि कोई और लड़का का नाम इसने रख के मेरे से प्यार किया तो उसे धोखा ऐसा फील होता है तो यहाँ पर एक क्लाइमैक्स बताया गया है तो नासिर हुसैन साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था प्यार का मौसम का जो गीत अभी आपने सुना तो आइए आगे बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की तरफ हम लोग चलेंगे अभी और विभा जी कौन सा है अगला गाना आपके पास अगला गाना भी रोमांटिक है हरी और राजेंद्र कुमार पे फिल्माया गया गाना है हम्म। न जाने कहा तुम थे न जाने कहा हम थे हम्म। या दादू ये देखो हम तुम तो मिले हैं हम्म। और इसमें ये कि कहा दो इंसान जो दूरियों में रहते हुए भी कैसे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं इसका जिक्र है यहाँ और इसमें रोमांस है अपनापन है और शर्म है रोमांटिक गाना होते हुए भी इसमें आ, हर पहलू को दिखाया गया है एक नेचर को भी दिखाया गया है और बहुत ही प्यार भरा गाना दोनों महबूब और महबूबा दोनों ही प्यार में कैसे एक दूसरे को दूर होते हुए भी पास हो जाने का एहसास दिला रहे हैं जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है ज़िंदगी और खाब 1961 में ये फिल्म आई थी जो राजेंद्र कुमार मीना कुमारी जयंत आगा इन पर पिक्चराइज किया गया था ये फिल्म कमल अमरोही साहब की लिखी हुई है और इसे एस बैनर्जी साहब ने डायरेक्ट किया था ये उस समय की सुपरहिट फिल्म क्लासिकल फिल्म है और दत्ताराम वाड़कर ने इस फिल्म को म्यूजिक से सजाया था तो आइए इस फिल्म का ये गाना अभी आपके लिए और जिसे खास प्रदीप प्रदीप कुमार जी ने लिखा था और सुमन कल्याणपुरी मन्नाडे इस गीत को गाए थे दत्ताराम जी का खूबसूरत संगीत से सजा ये अगला गाना आपके लिए खास खुश रहो खुशियाँ बांटो जाना छुड़ा कर ये बाहें न न जाने कहाँ तुम थे न जाने कहाँ हम थे जादू ये देखो हम तुम मिले हैं न जाने कहाँ तुम हम तुम बजेंगे न जाने कहा जाने कहा अब तो के न जाने कहा तुम थे न जाने कहा हम थे जादू ये देखो हम तुम मिले हैं जाने कहा तुम नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है खाबों के सफर में कहते हैं चले हैं जिस सफर पर उसका कोई अंजाम तो होगा जो हौसला दे सके ऐसा कोई जाम तो होगा जो दिल में ठान ही ली है कामयाबी को अपना बनाने की तो कोई ना कोई इंतज़ाम तो होगा <laughs> जी विभा जी अगला गाना कौन सा है हमारे श्रोताओं के लिए आपके पास ये गाना है ना जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा ये शीशा तोड़ डाला प्यार के काबिल नहीं समझा ये गाना शिकायत भरा एक गाना है हम्म। जो धर्मेंद्र अपनी महबूबा को गाते हुए ये अपने भाव प्रकट कर रहे हैं हम्म। और मीठी से शिकायत कर रहे हैं हम्म। तड़प दी भी तो ऐसे दी कि मुश्किल हो गया जीना जी जी जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है मोहब्बत ज़िंदगी है इस एल्बम से ये गाना है ये गाना जो है एच एस बिहारी साहब ने लिखा था मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है ओ पी नैयर साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत से सजा ये गाना अभी आप सब के लिए आप सुनाए हैं रेडियो पुनीरी आवाज़ खुश रहो खुशियाँ पाटो न जाने क्यों ना जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा न जाने क्यों ये शीशा तोड़ डाला ये शीशा तोड़ डाला प्यार के काबिल नहीं समझा न जाने क्यों हमारा हौसला देखो हमारा प्यार देखो और हमारा हौसला देखो मोहब्बत का जुनू हमको कहाँ तक ले चला देखो तुम्ही ने जान ले ली जान ले ली और तुम्हें कातिल नहीं समझा न जाने क्यों न जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा न जाने क्यों चलनी हो गया सीना और उस पर ये सितम है और उस पर ये सितम है कि हमें घायल नहीं समझा न जाने क्यों न जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा जाने क्यों मोहब्बत का ये जादू एक दिन सर चढ़ के बोलेगा मोहब्बत का ये जादू एक सर चढ़ के बोलेगा हर एक आंधी हर एक तूफान को दामन में ले लेगा मोहब्बत ने किसी भी आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज एक सौ सात दशमलव आठ एफ एम खुश रहो खुशियाँ बांटो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज़ और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना जिंदगी मोहब्बत जिंदगी है जी हाँ ये जो फिल्म थी इसमें कहानी जो है थोड़ा सा अलग था एक व्यक्ति है जिसको खास जेल की सज़ा हो जाती है और फिर आश्चर्य ये होता है कि जब उसे सज़ा मिलती है तब उसके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा होता है और बाद में जब पूरी जांच पड़ताल होती है फिर से रिवर्व किया जाता है तो वो व्यक्ति जो है बेकसूर निकलता है तो इस तरह की कुछ अलग कहानी इसमें बताने की कोशिश की है जगदीश निरूला ने इस कहा इस फिल्म का डायरेक्शन किया था ओ पी नैयर साहब ने संगीत से सजा था इस फिल्म के म्यूज़िक को सजाया था और मुस्तक जलीली ने इस कहानी को लिखा था तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं बहुत ही प्यारी बातें प्यारे प्यारे गाने आप सुन रहे हैं फिफ्टीज एंड सिक्सटीज के अब विभा जी अगला कौन सा गाना है आपके पास अगला गाना भी प्यार करने वालों की क्या अजीब सी मांग होती है कि <laughs> मीना कुमारी बहुत ही प्यारा गाना है और ये मीना कुमारी की सुपरहिट गानों में से एक गाना है उनकी एक्टिंग कमाल की है ये गाना है न जाओ सैया छुड़ा के भैया कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी वो दुल्हन की तरह सजी हुई है एटमोसफियर बहुत ही रोमांटिक है और अपने पति को और अपने जिनको वो प्रीतम भी मानती हैं नशे में धुत होते हुए भी उनको पकड़कर अपने पास ही रहने की बात कर रही हैं बहुत <laughs> बहुत ही नशीला गाना है जी जी जी सही पहचाना आपने और साहेब बीबी और गुलाम जो 1962 में आई थी ये सुपरहिट फिल्म बनी उस समय की और इसमें जो कलाकार थे जैसे कि आपने बताया मीना कुमारी गुरुदत्त वैदा रहमन और रहमान साहब ने काम किया था और इनकी जो है बहुत ही अच्छी ये फिल्म बनी और उस समय एक थोड़ी सी इसमें जो अलग चीज़ बताई गई एक अयाश आदमी की पत्नी की कहानी जिसको बयां करना है इसमें और ये सारी चीज़ें जो है घर के अंदर जो माहौल बनता है और अमीर आदमी होने के नाते वो बहुत समय तक बाहर रहता है तो चीज़ें कुछ अलग बन जाती हैं आबरा अलवी साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था बिमला मित्रा ने इसकी कहानी लिखी थी और हेमंत कुमार मुखोपाध्याय का इस फिल्म को संगीत से सजाया था तो आइए इस फिल्म का ये गीत जो बहुत ही खूबसूरत गाना है टची गाना है सभी को अच्छा लगता है तो आइए सुनते हैं इस खूबसूरत गीत को शकील बदायूं का लिखा गीता दत्त का गाया हेमंत कुमार का संगीत से सजा ये गाना अभी आपके लिए खुश रहो खुशियाँ बांटो न जाओ सैया छुड़ा के मैया कसम आज तुमको न जान दूंगी दशमलव आठ एफ एम खुश रहो खुशियाँ बांटो क्या बात है बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया विभा जी मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोता खुश हो गए होंगे आइए अब हाकरी मोड पे हम लोग पहुँचे हैं तो अगला गाना कौन सा है आपके पास अगला गाना है ना झटको जुल्फ से पानी ये मोती फूट जाए हम्म। ये बारिश की रात में फिल्माया गया गाना है इसके बोल बड़े प्यारे हैं इसको कैसे महबूब अपनी महबूबा के लिए उनके इवन पानी की बूंदें टपक भी रही हैं तो उसको भी कैसे मोतियों का नाम देते हुए अपनी शायरी अपने लफ्जों को प्यार में लपेट के महबूबा तक पहुंचा पहुंचा रहे हैं और महबूबा बड़े प्यार से उसको सुन के शर्माती हुई इस गाने का लुत्फ ले रही हैं और इसके बोल हाँ हमारी जान ले लेगा ये नीची आंख का जादू चलो अच्छा हुआ मरकर जहाँ से छूट जाएगा जी जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ रवि साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत से सजा ये गाना है ये शहना ही इस एल्बम का गाना है जो 1964 में रिलीज हुई थी और ये एक फिल्म है जिसमें वायुसेना के अधिकारी का एक प्रेम कहानी दिखाया गया है और अपने कर्तव्य को निभाने के लिए वो किस तरह से फिर अपने परिवार को छोड़कर अपना कर्तव्य करने के लिए जाता है अपना कर्तव्य पालन करता है देश के प्रति तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है और देश सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देता है तो चलिए ये एस डी नारंग साहब का निर्देशन में बना फिल्म बहुत ही पॉपुलर फिल्म रही इसके कलाकार थे विश्वजीत राय राजश्री जॉनी वॉकर निरुपमा रॉय इस फिल्म के कलाकार थे चलिए अब वक्त हो गया है आप सभी से इजाज़त चाहने का और जाते जाते Viva ji thank you so much आपने बहुत ही प्यारे कलेक्शन आज के इस एपिसोड में हमारे सभी श्रोताओं को सुनाया एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी धन्यवाद सुने आपका और हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं का जिन्होंने बड़े प्यार के साथ हमें सुना और अपना कीमती टाइम देके हमारे साथ ये वक्त गुजारा मैं उनके आभारी हूँ और आपको भी शुक्रिया करती हूँ आपने मुझे मौका दिया इस शो में आने का <laughs> जी जी शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छा लगा आपने बहुत ही अच्छे कलेक्शंस को सुनाए और जाते जाते दो लाइनें हमारे सभी श्रोताओं के लिए और इसी के साथ मैं चाहूंगा इजाज़त कहते हैं आज बादलों ने फिर साजिश की आज बादलों ने फिर साजिश की मेरा घर मिट्टी का था मेरे ही घर बारिश हुई आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज़ खुश रहो खुशिया बांटो न झट को जुल्फ से पानी ये मोती फूट जाएंगे न झट को जुल्फ से पानी ये मोती फूट जाएंगे तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा मगर दिल टूट जाएंगे न झटको जुल्फ से पानी ये सब अंदाज मिलकर दो जहां को लूट जाएंगे तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा मगर दिल टूट जाएंगे न दो जुल्फ से पा नाजुक लब है या आपस में दो लिपटी हुई कलिया ये नाजुक लब है या आपस में दो लिपटी हुई कलिया जरा कुछ न बिगड़ेगा मगर दिल टूट जाएंगे न झटको जुल्फ से पानी चलो अच्छा हुआ मर कर जहाँ से छूट जाएंगे तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा मगर दिल टूट जाएंगे न झट दो जुल्फ से पानी ये मोती फूट जाएंगे न झट गो जुल्फ से